también. प्रेमी सज्जनों जिज्ञासा समाधान में आज जो प्रश्न है प्रातःकाल के वेद स्वाध्याय विनय के मंत्र के प्रसंग में जो चर्चा चली थी उस पर केंद्रित है आवाज ठीक आ रही है आप में से भी बहुतों का ये प्रश्न हो सकता है अथवा जब इसको सुनेंगे तो उस विषय में प्रश्न आपका भी बन सकता है प्रश्न है आज प्रातः सत्संग में आपने कहा कि यदि ईश्वर मन को बुरे संस्कार से अल्प प्रयास या तो शीघ्र रोकने वाला बनाता तो अच्छे मार्ग में भी वैसा ही होता यदि एक मद्यप शराब पीने वाला उसने प्रत्यक्ष कर लिया कि मद्यपान से हानि होती है पुनरअपि संस्कार के कारण बेचैन होता है छोड़ नहीं पाता है यदि एक संकल्प से छोड़ने में समर्थ होता तो अच्छे मार्ग में जाने के लिए उस प्रकार मन का बाधकत्व तो कैसे सिद्ध होता है समझ में नहीं आया प्रातःकाल ये बात रखी थी कि मन एक ही बार में बुराई से क्यों नहीं हट जाता हम चाहते हैं और शीघ्र ही हम क्यों नहीं छोड़ देते उसको तो उस प्रसंग में मैंने कहा था यदि परमात्मा ऐसा करता तो शुभ कर्मों के संदर्भ में अच्छी बातों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती यदि मन बुरे कर्मों की तरफ सरलता से न जाए ये रोका जाता तो अच्छे कर्मों की तरफ भी वो शीघ्र नहीं जा पाता वहां भी वो बाधित होता जैसा मन बना है वो ही हमारे लिए सबसे अधिक हित कर ये भाव था अब इनका प्रश्न और आगे देखें ईश्वर ने ठीक नहीं बनाया अथवा कमी है मन में या किसी भी वस्तु में ऐसा विचार तो कभी नहीं आता केवल विश्लेषण की दृष्टि से कौतूहल उत्सुकता होती है ऐसा बनता तो कैसे होता क्या बाधा आती है अर्थात मन ऐसा बना होता कि हम एक बार संकल्प करते और वो दोष हट जाता है तो ऐसा बन जाता तो क्या बाधा आती और आगे खोल रहे जैसे पतित होने में अधिक समय व प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती है वैसे उत्थान निर्माण या आत्मोन्नति के लिए स्वल्प समय व स्वल्प प्रयत्न में समर्थ हम नहीं हो पाते ठीक है आप लोग भी सहमत होंगे इस बात से प्रमाण दीर्घ काल निरंतर ये से भी तो दृढ़ भूमि जो प्रयत्न के लिए योग दर्शन का सूत्र लिखा इन्होंने और उपनिषद का वचन लिखा दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती चुरस्य धारा निहिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती सूर्य की धार पे चलने जैसा है और दुर्गम पथ है यानी उन्नति करना दुर्गम है और पतन तो सरल हमें लगता ही है यद्यपि अंदर से स्वीकार करता हूं ईश्वर सबके लिए मुक्ति का मार्ग उन्मुक्त कर रखा है ईश्वर ने सबके लिए मुक्ति का मार्ग उन्मुक्त कर रखा है पुनरअपि उत्थान व पतन दोनों की तुलना करें तो पतन सरल है उत्थान कठिन है उत्कर्षता से क्षण भर में व्यक्ति पतित हो जाता है लेकिन एक पतित व्यक्ति को उत्कर्षता के लिए बहुत अधिक समय लगता है ईश्वर चाहता है हमारा उत्थान शीघ्र हो परंतु हमारा पतन शीघ्र क्यों होता है ठीक है सहमत है इससे ऐसा ही होता है ना हम परमात्मा के बड़े भक्त हैं परमात्मा को बहुत अच्छा मानते हैं परमात्मा ने ये सब चीजें कैसी बनाई हैं हमारी उन्नति की तरफ ले जाने के लिए यही तो बोलते हैं हम भक्ति में लेकिन प्रतीति क्या है प्रतीति क्या है हमारी ऐसी बनाई है परमात्मा ने उन्नति करना परमात्मा ने बहुत कठिन बनाया है और पतन पतित होना सरल बनाया है तो परमात्मा क्या चाहता है <laughs> हमारा पतन चाहता है या उन्नति चाहता है चाहता है तो उन्नति है यही सब स्वीकार करेंगे कोई ऐसा नहीं कहेगा ईश्वर भक्त कि परमात्मा हमारा पतन चाहता है ये शब्द प्रमाण से भी सिद्ध है <laughs> शब्द प्रमाण से भी सिद्ध है ये लेकिन विरोध किससे आ रहा है हमारे प्रत्यक्ष से इसका विरोध आ रहा है प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है तभी न्याय दर्शन की भाषा में देखें तो कौन सा ठीक होना चाहिए प्रत्यक्ष ठीक होना चाहिए या शब्द प्रमाण ठीक होना चाहिए प्रत्यक्ष ये कह रहा है कि पतन शीघ्र होता है उन्नति बहुत कठिन होती है अपने में नहीं औरों में भी देख लिया बहुतों में देख लिया अनेक जगह देख लिया लेकिन शब्द प्रमाण ये कहता है कि परमात्मा ने जो इस सृष्टि बनाई है ये उन्नति के लिए बनाई है पतन के लिए नहीं बनाई है पतन होता है ये ठीक बात है अब परमात्मा ये चाहता है कि हमारी उन्नति हो तो कितने लोग इससे सहमत हैं प्रश्न तो लगभग सबका होगा या कि, किसी को नहीं है इस विषय में प्रश्न कि हमारा उत्थान कठिन है और पतन सरल है मन के स्तर पर मुख्य प्रश्न मन के ऊपर केंद्रित है तो परमात्मा ने मन को ऐसा बनाया कि उसको अच्छाई की तरफ ले जाना कठिन है और बुराई की तरफ ले जाना सरल है इसके लिए उदाहरण भी दिया जाता है पर्वत पे चढ़ना कठिन है और नीचे फिसल के गिरना आसान है गिर जाते हैं हम आसानी से इत्यादि बहुत सारी बातें आपने बहुत से प्रवचन भी सुने होंगे ये सारी बातें कही जाती हैं तो इसमें एक मत होंगे या नहीं दोनों समान है ये श्रुति दर्जी का मत आया और गिरना सरल है उठना कठिन है इसमें तो सहमत है सब सब, सब उन्होंने एक ने कहा कि समान है दोनों यानी मन की दृष्टि से और दूसरी दृष्टि किसके है क्या बचेगी तो मन पे लगेगा तो ये सब पे भी लग सकता है इन्होंने समान बताया ठीक है और जैसे इन्होंने एक मध्यप का उदाहरण दिया शराबी का उदाहरण दिया कि उसको शराब की आदत है लेकिन वो बहुत जल्दी छोड़ना भी चाहता है दोष भी देख ले लेकिन उधर बहुत जल्दी जाता है यानी इन्होंने बुरे कर्मों को केवल मन तक ही सीमित नहीं जैसे हमारे शारीरिक स्तर पर भी कर्म होते हैं जो भी कर्म होते हैं वाणी के स्तर पर भी होते हैं उन सबको ले सकते हैं हम ये जो चर्चा चलाएंगे अभी उसको थोड़ा व्यापक बना करके मन पे केंद्रित है मुख्य मन को भी समझेंगे लेकिन अन्यत्र भी ये चर्चा हम फैला सकते हैं पूरे में सब पे ये लगनी चाहिए सामान्यतया हमारा पतन सरलता से होता है और उत्थान देरी से होता है इससे और किसी की मत भिन्नता है नहीं एक श्रुति दर्जी का केवल कहना है कि बराबर है पतन भी उतना ही कठिन है जितना कि उत्कर्ष अथवा दूसरे शब्दों में उत्थान भी उतना ही सरल है जितना कि पतन दोनों दृष्टियों से कोई अंतर नहीं आने वाला हमें अभी जो प्रतीति है वो क्या है पतन शीघ्र होता है सरल है और उत्थान कठिन है और देर से होता है ठीक है ये कठिनता हमें प्रतीत होती है अब इन्होंने कहा समान है तो समान है तो हम दोनों तरह से देख सकते हैं अब इनका कौन सा मत है ये और स्पष्ट कर देंगे कि जितना कठिन उत्कर्ष जितनी देरी से उत्कर्ष होता है पतन भी उतना ही कठिन है और उतनी ही देरी से होता है एक दृष्टि ये समानता आ गई अथवा उल्टा ले लें कि जितना शीघ्र और सरलता से पतन होता है उतनी ही शीघ्र और सरलता से उत्थान भी होता है ये भी समानता हो गई ना दोनों तरह से भी देख सकते हैं आपका जो भी इनमें से दृष्टिकोण रहा हो लेकिन ये समानता होगी हाँ, मत भिन्नता हो तो बताना उनको उन्होंने जो बोला उसको वहीं रहने दो आपको मत भिन्नता है इसमें तो बोलो इन्होंने बात रखी मन के स्तर पर अब उसको विस्तार मत करो आपकी मूल बात है इन्होंने एक प्रमाण भी प्रस्तुत किया योग दर्शन व्यास भाष्य में दूसरा सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोध उसमें व्यास जी ने पंक्ति लिखी प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम चित्त नाम का जो द्रव्य है वस्तु है ये प्रख्या रूप है सत्वगुण की प्रधानता वाला है परमात्मा ने कैसा बनाया इस चित्त को सत्वगुण की प्रधानता वाला बनाया रजोगुण और तमोगुण रजस तमस इसमें कम है तो इस आधार पर ये कह रहे हैं कि मन के स्तर पे परमात्मा ने मन को ऐसा बनाया है कि जिससे हमारा उत्कर्ष शीघ्रता और सरलता से हो सकता है क्योंकि जो तत्व बनाया द्रव्य बनाया उपा एक अंतकरण बनाया उसमें जब सत्वगुण की अधिकता रखी यानी उसको बनाया ही ऐसा है परमात्मा ने कि वो प्रगति के लिए है उन्नति के लिए तो जब उसका उपादान कारण सत्वगुण प्रधान है तो उससे उन्नति की संभावना अधिक है शीघ्र है सरल है ऐसा परमात्मा ने बना करके दिया दूसरा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं दीजिए अच्छा काम ईश्वर है और यदि कोई बदल का कार्य करता है तरफ से भय शंका लज्जा होती है दूसरा प्रमाण उन्नति में परमात्मा की तरफ से आनंद उत्साह और निर्भयता आ रही है ये अतिरिक्त सहयोग मिल रहा है उसको अच्छे काम में और बुरे काम में भय शंका लज्जा ये हो रहा है ये भी अतिरिक्त है तो इसको भी और साथ में जोड़ लिया जाए तो उन्नति करना सरल है या गिरना सरल है दो बातें इन्होंने रख दी हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें रख दी हैं नहीं नहीं बराबर नहीं उल्टा हो गया जैसे पचास पचास हो एक को पचास से इक्यावन कर दें और एक को पचास से उनचास कर दें तो कितना अंतर होगा दो का अंतर हो जाएगा ना बराबर थोड़ा ना कहते हैं इसको इधर तो उन्नति के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दे दी और उधर पतन के लिए रुकावटें खड़ी कर दी भय शंका लज्जा करके तो अंतर बढ़ेगा दूरी बढ़ेगी या समानता आएगी अच्छा, भाई जिसने अच्छा किया उसको सौ रुपए अतिरिक्त दे दिए एक हजार से सौ रुपए अतिरिक्त दे दिए और जिसने अच्छा नहीं किया उसके सौ रुपए काट लिए तो बोले बराबर हो गए उसको सौ बढ़ा दिए और इसके सौ घटा दिए बराबर हो गए सौ सौ ही तो हुए <laughs> इसको बराबर नहीं कहेंगे इससे दो सौ का अंतर आ गया दोनों की स्थिति में एक को हजार से नौ सौ कर दिए एक को हजार से ग्यारह सौ कर दिए अंतर कितना हुआ दो सौ का अंतर हो गया दुगना अंतर हो गया तो उन्नति करना सरल है ये इन्होंने बात रख दी पहले तो आप सब सहमत थे अब धीरे धीरे मत परिवर्तक होंगे कमल जी बोल रहे थे बोलिए और होता है वह भी कभी हो सकता है जब संस्कार उस तरह के हों उस तरह के संस्कार के हो नहीं सकता यदि ये व्यक्ति पुरुषार्थ के उपदेश से हमारा पतन हो रहा है उस तरह की नहीं हो पाती में से उसको हम पतन नहीं कह सकते नहीं उस तरह के पतन को नहीं लें अभी आपका कहना है कि प्रगति नहीं हो रही है तो हम उसको पतन समझने लगते हैं उसको भी छोड़ दीजिए ऐसा होता है लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए अभी हम केवल इस पे रख रहे हैं कि उन्नति करना सरल है या पतन सरल है प्रथम प्रतीति जिससे आप सब भी सहमति थे कुछ बात कुछ तथ्य ऐसे आए कि लगा ऐसा विचारने के लिए होगा कि नहीं परमात्मा की तरफ से समर्थन किसको है क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं और एक ईश्वर के साथ ये बात जुड़ गई सुबह जो ईश्वर के साथ जुड़ी थी तो क्या परमात्मा ने ही ऐसा बनाया है मन को इंद्रियों को कि हम पतन की तरफ शीघ्र जाते हैं और चाहता परमात्मा यह है कि हम शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करें तो परमात्मा की तरफ से जो किया गया उसके दो प्रमाण ऐसे आ चुके हैं जिससे लगता है कि परमात्मा ने उन्नति के लिए सहायता की है और अवनति के लिए बाधाएं खड़ी की नहीं आपकी बात इतनी पर्याप्त है नहीं कोई बात नहीं दीजिए एक ऐसा कार हमने मिला हुआ है जाना तो दिल्ली की यदि उल्टी दिशा में तो जितनी देर में दिल्ली चल सकते हैं देर में अहमदाबाद जाना पटन है दिल्ली जाना यदि की बात है तो उधर जा सकते हैं उतना ही उतना ही इधर भी जा सकते हैं समान आप सड़क को समान मान के चल रहे हैं उदाहरण देने वाला <laughs> पहाड़ वाला उदाहरण देगा वो पक्ष वाले दे सकते हैं सुनिए मन के सामर्थ्य के लिए भी वो ऐसा दूसरा उदाहरण दे सकते हैं जैसा मैंने पहले भी बोला कि हम ऐसी जगह खड़े हैं कि ऊपर जाना है और नीचे जाना है हमें समतल नहीं जाना है इधर या इधर एक है ऊपर जाना उन्नति करना और एक है अवनति करना तो दोनों में उन्नति कठिन है ऐसा ही अनुभव होता है अच्छा चलो इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से और विचार करते हैं कुछ बातें इन्होंने रखी दी हैं दूसरे की हत्या करना गलत है या सही है सज्जन व्यक्ति है उससे छीनने के लिए धन छपटने के लिए उसकी हत्या कर देना सरल है कठिन है सरल है कठिन है अच्छा ये पतन है हम हत्या कर सकते हैं उसकी हमारी सामर्थ्य है ये पतन है या उत्थान है यदि हत्या कर रहा है वो अन्याय पूर्वक कर रहा है ठीक है और विकल्प हटा देना ये पतन है या उत्थान है पतन है और कोई व्यक्ति मर रहा हो उसको बचाना ये उत्थान है या पतन है उत्थान है दोनों में से कौन सा सरल है बचाना सरल है नहीं प्रयास वो बचे ना बचे वो मरे या ना मरे वो एक चलो छोड़ भी दो या ऐसा उदाहरण ले लो कि हम बचा भी सकते हैं और हम मार भी सकते हैं हमारी सीमा में है कौन सा सरल है बचाना सरल है तो उत्थान सरल हुआ या पतन सरल नहीं मैंने समान नहीं कहा है मैं तो एक खुली परिचर्चा कर रहा हूं अभी इन्होंने कुछ बात रखी उन्होंने भी रखी हम विचार कर रहे हैं आप लोग भी साधन आमंत्रित हैं आप लोग बोले बीच में कोई बात नहीं मैं बीच बीच में कर ही रहा हूं हम एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाह रहे हैं हम एक विश्लेषण कर रहे हैं कैसे किसी समस्या पे जो एकदम उल्टा दिख रहा है और कैसे समाधान करें कैसे कैसे समाधान होते हैं कैसे प्रमाणों का प्रयोग होता है और हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाह रहे हैं ठीक है मैंने एक तथ्य और साथ में जोड़ दिया आपके यदि क्योंकि मैं अब आपके प्रतिपक्षी ही बनूंगा क्योंकि आप सब तो इस पक्ष वाले हैं कि अधिकतर कि उन्नति कठिन है और पतन सरल है ठीक है उन्नति कठिन है और पतन सरल है तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया और समानता का है इन्होंने उन्नति को सरल बताया ही है सत्यव्रत जी ने भिन्न पक्ष रख रहे हैं बोलो हाँ तो ये तो आप उस पक्ष के समर्थन में बोल रहे हो इन्होंने कहा उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और पतन अपने आप हो जाता है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता वही पहाड़ वाला उदाहरण है चढ़ने के लिए पेड़ पे चढ़ने के लिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए दम लगाना पड़ता है लेकिन फिसलने के लिए गिरने के लिए तो दम नहीं लगाना वो तो अपने आप आ जाते हैं आपका पक्ष ये अतिरिक्त पक्ष नहीं है ये आप उस पहले पक्ष के समर्थन में एक युक्ति प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप लोग सब अधिकतर एक तरफ हैं तो मैं विपक्ष के रूप में मैंने एक बात रखी अच्छा आपको ये कहें दूध पीना और शराब <laughs> पीना कौन सा उत्थान है और कौन सा पतन है ये बताइए आपको शराबी से पूछ <laughs> उससे भी पूछ लेंगे अभी हम अपने लिए भी तो बात कर ले शराबी के लिए भी करेंगे स्वामी जी ने शराबी का उदाहरण दिया हम उसको छोड़ेंगे नहीं आपके लिए क्या उचित है उदाहरण को दूसरी तरफ ले जाना भी निग्रह स्थान का द्योतक है ये इस बात का सूचक है कि यहां हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं यहां तो हम बच नहीं पा रहे हैं तो दूसरा उदाहरण लेके आते हैं दूसरा दूसरा उदाहरण भी लेंगे अभी बात को लेंगे अभी मैं तो थोड़ी थोड़ी सी बात ही तो रख रहा हूं ना मैं थोड़ा बिंदु आपके विचार के लिए रख रहा हूं विषय को थोड़ा सा और व्यापक बना करके हम विचार कर रहे हैं झूठ बोलते ने से पहले आपको अधिक सोचना पड़ता है या सच बोलने से पहले अधिक बोलना पड़ता है सोचना पड़ता है किसको झूठ बोलने में से पहले अधिक सोचना योजना बनाना पड़ती है या सच बोलने में अधिक योजना बनानी पड़ती है किसमें अधिक श्रम होता है झूठ बोलने में तो कठिन सच बोलना है या झूठ बोलना है तो वेद का प्रमाण है तयोर यत सत्यम यतरत रिजीय सत्य और असत्य में सत्य का मार्ग सरल है अच्छे और बुरे में अच्छे का मार्ग सरल है वेद का भी वचन है और ये कुछ उदाहरण भी देख रहे हैं होता क्या है कि हम एक विशेष दृष्टि से केवल इस देखते हैं और ऐसे प्रवचन दे दे करके कि बढ़ना कठिन है हम व्यक्ति की मानसिकता को खराब कर देते हैं उसके मन में अनजाने में हम ये डाल देते हैं कि ये मार्ग बहुत कठिन है ये बहुत कठिन है ऊपर चढ़ना है लेकिन कब किस स्थिति में वो एक विशेष स्थिति है वो उसकी चर्चा आगे करेंगे है कठिन है क्यों कठिन है लेकिन उस कठिनाई को हम परमात्मा के साथ में जोड़ दें कि परमात्मा ने उन्नति के लिए ऐसी स्थिति बनाई है कि हमें कठिनाई होती है और परमात्मा ने पतन के लिए ऐसी स्थिति बनाई है कि हम सरलता से पतित हो जाते हैं और हम परमात्मा में दोषारोपण तक पहुंच जाते हैं यदि ये हमारे लिए विचार की बात है हम परमात्मा को पाना चाहते हैं परमात्मा को सबसे श्रद्धेय मानते हैं और उसको पाने के लिए जो योगाभ्यास कर रहे हैं जो प्रक्रिया चल रहे हैं कर रहे हैं उसमें हम ऐसी मति हमने बना ली कि परमात्मा पे दोषारोपण कर रहे हैं ये परमात्मा पे दोषारोपण है ये परमात्मा का अपमान है अगर हम ऐसा सोच लेते हैं मान लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जितने भी बुरे कर्म है उनमें उनको करना कठिन है इन्होंने जो बात बताई उसके अतिरिक्त एक और जोड़ लीजिए सामाजिक दृष्टि से हमें अपने अंदर जो भी सरल लगता हो शराब पीना नहीं पीना झूठ बोलना नहीं बोलना हमारी तो इच्छा कर रही है झूठ बोलने की बहुत सामाजिक दृष्टि से कि जब झूठ पकड़ा जाएगा या कोई देख तो नहीं लेगा तो यश की दृष्टि से क्या व्यवस्था बन बनी हुई है सब जगह पूरे विश्व में झूठ बोलते हुए समर्थन नहीं करेगा कोई हम किसी से झूठ बोले सामने वाले से वो समर्थन नहीं करेगा हमारा उससे हमारा अपमान ही होगा और सच बोलेंगे तो समर्थन करेगा वो प्राय ये मिलेगा दूसरा किसी से हम सच बोलेंगे तो वो हमारे विपरीत प्रतिक्रिया करेगा या झूठ बोलेंगे तो अगर हम झूठ बोल करके इसमें हानि लाभ भी जुड़ा हुआ है सामने वाले का कभी सच बोलना उसके लिए हानिकारक भी है तो वो प्रतिक्रिया भी करेगा लेकिन सामान्यतः अधिकतर किसी और के साथ हम सच झूठ बोल रहे हैं कोई एक पार्श्व में व्यक्ति बैठा है तो किसका समर्थन करेगा दोनों में से किसका समर्थन करेगा वो सच का ही करेगा ये भी अच्छाई और बढ़ने के लिए सहायक चीज बनी हुई है मन भी उपादान कारण ऐसा है और अंतकरण में जो परमात्मा की प्रेरणाएं हैं वो भी उन्नति में सहायक हैं और समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी उन्नति में सहायक है लेकिन फिर भी हमें उन्नति करना कठिन लगता है और अवनति होना सरल लगता है अवनति की जो सरलता हमें प्रतीत हो रही है जैसे कि शराबी का उदाहरण था उसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं है उसने शराब पी पी करके मन और शरीर की ऐसी स्थिति बना दी है कि वो उसके बिना रह नहीं पा रहा है ये उसने बिगाड़ा है और ये आदत उसकी ऐसे ही हो गई है या लंबे समय से हुई है लंबे समय के अभ्यास से हुई जो दीर्घ काल नैरंतर्य की बात आपने अच्छाई के लिए लगाई है बुराई के लिए भी जो की तो घटती है अच्छा व्यक्ति जिसने अच्छे संस्कार डाले हैं अपने उसके लिए उस अच्छाई को करना सत्य को बोलना न्याय युक्त व्यवहार करना बहुत सरल है जैसे झूठ बोलने वाले के लिए झूठ बोलना सरल लगता है उसे अन्याय करना सरल लगता है मिलावट करना छल कपट करना उसको सरल लगता है उतना उससे अधिक सरल एक सज्जन व्यक्ति को ईमानदारी से चलना लगता है और एक दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनना शराब पीने वाले को शराब छोड़ना मिलावट करने वाले को मिलावट छोड़ना जितना कठिन लगता है उससे अधिक कठिन एक ईमानदार व्यक्ति को और सच्चे व्यक्ति को झूठ बोलना लगता है यदि हम निम्न स्तर पर हैं अभी अच्छे नहीं बने अभी हमने अच्छे संस्कार नहीं डाले तो हमें पतन आसान लगेगा चढ़ना कठिन लगेगा यदि हमें उन्नति करना कठिन लग रहा है तो सीधा सा मतलब है कि अभी हमारी स्थिति नीचे की है और ये जिस दिन हमें ये लगने लगेगा कि मुझे गलत काम करना कठिन है और उन्नति करना और सही मार्ग पे चलना न्याय पे चलना सरल है उस दिन हम ऊंची स्थिति में होंगे हम अपना आकलन कर सकते हैं जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा तो दृढ़ भूमि मन में अच्छाई या बुराई दोनों के संस्कार डालने में ये नियम समान रूप से लागू होता है सामान्य रूप से जो कह बाकी जो अतिरिक्त बातें वो हैं अच्छे के लिए समर्थन में और बुरे के विपरीत में विशेष रूप से जो प्रश्न है वो ये कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो सामान्य बुरे कर्म तो करता ही नहीं है व्यसन आदि नहीं है उसको लेकिन मन में भोगों के संस्कार ये सब लौकिक भौतिकता आकर्षण लोकेष्णा वित्तेष्णा ये जो बार बार आते हैं ये जो पतन बार बार होता है न चाहते हुए भी चाहते हैं कि ये नहीं आए उनको गलत मानते हैं लेकिन फिर भी वो वो विचार आते हैं वैसा कर बैठते हैं झूठ बोल देते हैं लोभ कर लेते हैं उसका कारण है हमारे अपने बुरे संस्कार जो हमने डाल लिए हैं अभी तक यदि उतने ही संस्कार उतना ही अभ्यास हमने अच्छे का कर लिया होता तो हमारे लिए झूठ बोलना भी उतना ही कठिन होता जितना झूठ बोलने वाले के लिए सच बोलना कठिन होता है बल्कि उससे ज्यादा कठिन होता है और ऐसा होता है क्योंकि अभी हमें भिन्न भिन्न बुरे संस्कार बाधित करते हैं इसलिए हमें वो बड़ी समस्या दिखती है लेकिन अब उसका अच्छा पक्ष भी देखिए हम कुछ अच्छे भी चल रहे हैं नहीं कुछ क्या बहुत अच्छे चल रहे हैं नहीं दोनों की तुलना करके देखिए अपनी स्थिति में जो आप जिस भी स्थिति में है उसमें वैचारिक स्तर पे तो क्या बुरे विचार अधिक आते हैं या अच्छे विचार अधिक रहते हैं दिन भर का बुरे कर्म हमारे अधिक हो रहे हैं या अच्छे कर्म अधिक हो रहे हैं पूरे दिन भर के क्या अधिक है क्या अधिक है कौन से अधिक है बताइए अच्छे अधिक है ना क्या उसको सबको करने में बहुत कष्ट हो रहा है आपको अभी अपने स्तर पे अभी जैसे क्या उसके लिए बहुत कष्ट हो रहा है कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपका स्वभाव बन चुकी ऐसी सहज है उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता उस तरह की भावना के लिए उस तरह के कर्म के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है वो पंखा बंद कर देना बंद हमें पतन आसान लगता है ऐसा हम कहते हैं कहते हैं प्रश्न में भी लिखा है कि उत्कर्ष से कब व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाए कह नहीं सकते कभी भी हो जाता है चढ़ने में बहुत समय लगा लेकिन पतन एक क्षण में हो जाता है अब इसको विचारिए जब भी पतन होता है ऊंचे व्यक्ति का वो एक क्षण में कभी नहीं होता है यदि उसने हिंसा कर दी शरीर से एकदम कभी नहीं होगा ऊंचे स्तर का व्यक्ति शरीर पे अगर कोई दोष आ गया है इसका मतलब है मन में वो दोष बहुत पहले से चल रहा है पहले थोड़ा हुआ होगा बाहर नहीं दिख रहा है दूसरों को ये दूसरों को ऐसा लगता है कि अचानक कैसे हो गया ये तो इतना अच्छा व्यक्ति था अचानक ये दोष कैसे आ गया अचानक पतित कैसे हो गया हम अपना अपना देख लें अचानक पतन कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा दूसरों को लगता है ऐसा उस व्यक्ति के जिसका पतन हुआ है उसमें मन का पतन बहुत पहले से प्रारंभ हो जाता है और उसने वहां रोका नहीं है उसको जिस क्षण से मन का पतन हुआ था या जब थोड़ी सी भी शिथिलता आई थी उसको उसने वहां रोका नहीं है इसलिए वो बढ़ी है फिर और बढ़ी है फिर और बढ़ी है फिर वो वाणी पे भी आ जाती है फिर शरीर पे भी आ जाती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम शरीर पे आ जाए और जिसने इतना उत्कर्ष प्राप्त किया है मेहनत करके उसमें तो हो ही नहीं सकता इसलिए इन सबको देखते हैं तो उन्नति करने के लिए अनुकूलताएं अधिक हैं पतन के लिए प्रतिकूलताएं बहुत हैं लेकिन फिर भी यदि हमें पतन सरल लग रहा है उसका एकमात्र कारण है कि हमने उस गलत कार्य का इतना अभ्यास कर लिया है उसमें हम इतना सुख और लाभ देख रहे हैं बार बार वहीं जाते हैं हमारा ज्ञान वैसा बना है संस्कार उसी तरह के और हमारी प्रवृत्तियां वाणी या शरीर की भी वैसी ही बन चुकी है अभ्यास हो गया नहीं तो ऐसा नहीं होगा इस प्रश्न में ये भी बात जुड़ी हुई है कि यदि परमात्मा ऐसा बना देता मन को कि एक संकल्प करते और बुराई को हट जाते बुराई से हट जाते कितनी तेजी से प्रगति होती उसमें मैंने कहा कि ऐसा करते तो दूसरे पक्ष में भी बाधा आती तो बाधा कहां से तो बहुत सरलता है बहुत अच्छा हो जाता कि एक बार सोचा गलती हटाओ और एक संकल्प से हट जाती जो ऊंचे स्तर का व्यक्ति पतन को प्राप्त हो रहा है वो एकदम नहीं होता है फिर वहां भी ऐसा ही होता है एक छोटा सा संकल्प किया विचार आया और वो पतित होता ये बड़ा भयंकर दोष है ये ये जिसको हम पतन कह रहे हैं अचानक पतन हो गया वो बहुत बात में पतन होता है गिरते गिरते गिरते न रोकता है रोकता नहीं है रोकता नहीं है शिथिल करता जाता है करता जाता है तब जाके शरीर पे पतन आता है यदि ऐसा हो जाता कि हम एक संकल्प करें और वैसा हो जाता आज जो आप ये कह रहे हो कि मैं मेरे पुण्य कर्म अधिक हैं मैं अधिक अच्छे कर्म करता हूं और बुरे कर्म कम करता हूं शारीरिक और वाणी के स्तर पर अभी बात कर रहा हूं मन की अभी छोड़ दीजिए क्योंकि मन हम की बात कर रहे हैं कि मन में एक संकल्प आ जाए और हम वैसा कर पाते तो हम आज अच्छे अधिक होते हैं या बुरे अधिक होते हैं बताइए आज हम अच्छे अधिक हैं दूसरों की छोड़ी है अभी दूसरों की अभी छोड़ दीजिए वहां भी लगा सकते हैं वहां भी वो दिन भर के देखें तो अच्छे कर्म अधिक करता है व्यक्ति प्राय सामान्य रूप से कह रहा हूं मन के स्तर पे जो संस्कार और वो सब है वो अलग छोड़ दीजिए लेकिन जो सामान्यतः है उसमें बुरे कर्म प्राय कम होंगे और दूसरों की छोड़े हम अपनी देखें यदि हमारे एक संकल्प से अच्छा या बुरा जो भी जो भी मन में आया वैसा हम कर देते तत्काल तो हमारी बुराइयां बढ़ती या घटती जैसा जैसा सोचते अब मतलब जैसा भी हमने सोचा है वैसा करते चले जाएंगे तो बहुत कुछ गलत होगा आज हम मन में गलत विचार लाने पर भी वैसा करते नहीं है नहीं कर पाते क्योंकि दूसरी चीजें उसको रोकने वाली हैं अच्छी अच्छे संस्कार उसको रोकने वाले हैं हमारा अच्छा पढ़ा हुआ अच्छा सुना हुआ वो उसको रोकने वाला है तो हमारी ऊंचाई की तरफ प्रगति या नीचे की तरफ प्रगति जो भी होती है दोनों में लंबे संस्कार डालते हैं तब होती है इसमें एक तथ्य और समझने का है जब ये बात रखी तो एक सहज ही प्रश्न आएगा कि इंद्रियों की विषय भोगों की तरफ शब्द स्पर्श रूप रस की तरफ प्रवृत्ति सरल है अधिक होती और उनसे संयम की प्रवृत्ति कठिन होती है और उसमें कोई भयशंका लज्जा भी नहीं है जो धर्म पूर्वक विषय सेवन है उसमें कोई फैशन का लज्जा भी नहीं है बल्कि आनंद उत्साह है न्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक की छोड़ दीजिए अभी अभी मैं केवल विषयों की तरफ प्रवृत्ति धर्म पूर्वक संसार के सुखों का सुख ले रहा है वो उसमें धर्म पूर्वक एक भिन्न बिंदु बताने के लिए अन्याय को हटा करके बात कर रहा हूं उसमें तो विषयों की तरफ प्रवृत्ति अधिक है ईश्वर ने ऐसा ही बनाया कारण कि वो हमारे जीने के लिए आवश्यक है ये जीवन चलाने के लिए आवश्यक है इसलिए परमात्मा ने उनके प्रति इतना आकर्षण रखा है जाने अनजाने भोजन के गुण लाभ जाने न जाने भूख लगेगी वो खाएगा ही उसमें रस दिया है परमात्मा तो जो न्याय पूर्वक विषयों की तरफ प्रवृत्ति है वो तो परमात्मा ने ऐसी ही बनाई है यदि ऐसी ना बनाई होती तो बच्चे और अनजान स्वभावतः उस तरफ नहीं जाते और जीवन नहीं चल पाता वो जीवन चलाने के लिए आवश्यक है पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य वो मूलभूत चीजें जीवन चलाने के लिए आवश्यक हैं इसलिए उधर अधिक सुख अधिक आकर्षण स्वभावतः परमात्मा ने रखा हम इसको पतन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक विशेष आध्यात्मिक स्तर पर बात कर रहे होते हैं उस दृष्टि से वो पतन कहा जा सकता है लेकिन वैसे वो उस तरह का पतन नहीं है हम उसको अन्याय पूर्वक जिससे हमारा पाप कर्माशय बने वैसा नहीं है वो पतन इसलिए ये जो पीछे चर्चा चल रही थी उसमें इनको थोड़ा सा हटा लीजिए जो उपनिषद का वचन है दुर्गम पथस तत्कवयो बदंती या तो क्षुर से धारा निश्चिता दुरत्य क्षुरे की धार पे चलने के समान है क्योंकि विषय भोगों की तरफ प्रवृत्ति इंद्रियों को बहिर्मुखी परमात्मा ने बनाया ही है जीवन जीने के लिए वो आवश्यक है उनसे बचना उनको उनसे अपने को रोकना और न्याय पे चलना वो कठिन है उनमें विषयों में सुख आएगा ही उसको रोकना ये एक कठिन बात है ये एक उन्नति के लिए कठिन है लेकिन पतन और उन्नति वैसा जो पहले वाला था उसमें तो उन्नति के लिए अनुकूलताएं अधिक हैं मन के स्तर पर रचना के स्तर पर परमात्मा की सहायता के स्तर पर हमारे किए जाने वाले प्रयत्नों के स्तर पर और समाज के सहयोग या प्रतिक्रिया विपरीत विरोध उसके स्तर पर अच्छे के लिए अधिक सुविधा सरलता है और बुरे के लिए कठिनता है अच्छाई को रोकने के लिए कौन सी पुलिस है बुराई को रोकने के लिए पुलिस है बुराई को रोकने के लिए न्यायालय है बुराई को रोकने के लिए सेना है शासन है गुरुजन है दंड व्यवस्था है बहुत अधिक है उसके लिए जगह जगह बाधाएं हैं और इस कारण से ही हम अधिक ठीक चल पाते हैं तो परमात्मा ने तो मन को उन्नति के लिए ही बनाया है उन्नति के अधिक अनुकूल बनाया है हम अपने संस्कारों के कारण ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारा पतन शीघ्र है पहाड़ी वाला भी जो उदाहरण दिया जाता है उसमें कई पहाड़ियां ऐसी होती हैं कि जिस पर चढ़ तो जाते हैं हम उतर नहीं सकते <laughs> ऐसा ऐसा आपको मिलेगा उतर नहीं सकते चढ़ेगा ये बिल्कुल बात है क्योंकि नीचे तो उसे हानि दिख रही है कि मैं मरूंगा नीचे तो ऊपर उसको फिर भी लगता है मैं चढ़ जाऊंगा ये किसके लिए जो प्रगति कर रहा है एक साधक है योगी है उसको यदि कहे कि आप ये बुराई की तरफ चले जाओ नहीं जाएगा वो हाँ जो निचले स्तर पर है वो जाएगा ऊंचे स्तर पर है उसको गिरना बहुत कठिन है बहुत कठिन है नहीं गिरेगा वो संस्कार यदि बुरे हैं और संस्कारों के स्तर पर वो अपने को नियंत्रित नहीं कर रहा है यदि अंदर से ढीला है ऊपर से भले ही कैसा भी दिख रहा हो अंदर से उसने नियंत्रण नहीं कर रखा है तो वो कभी भी गिरता हुआ दिखेगा अचानक गिरता हुआ दिखेगा लेकिन अचानक कोई भी नहीं गिरता है परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि केवल आप किसी भी बुरे कर्म को ले लीजिए क्या एक बार विचार करते ही हम उसको कर देते हैं पागलों और उन्मत्त व्यक्तियों की छोड़ दीजिए उनको एक तरफ रख दीजिए जितने बुरे कर्म होते हैं अधिकांश विचार आया और कर दिया ऐसा नहीं होता है लंबे समय बाद में वो गलत कार्य हम करते हैं हाँ कोई घटना हो गई ऐसी अचानक और उसने गुस्सा आ गया और मार दिया किसी को एकदम से क्या अचानक कर दिया वो भी अचानक नहीं है उसने पीछे अपना व्यवहार ऐसा बना रखा है कि जहां विरोध होता है वो प्रतिक्रिया शीघ्र करता है क्रोधित होता है सहन नहीं कर सकता ये उसने अभ्यास बना रखा है अपना तब जाकर के ऐसा हुआ है जो धैर्य वाला है सहनशील है गुस्सा जिसको नहीं आता है एकदम पहले का ये अभ्यास है सामने कितनी भी बड़ी बात हो जाए वो एकदम ऐसे नहीं करेगा अन्याय कर ही नहीं सकता वो नहीं मार सकता वो दूसरे को तो सारे विषय आ गए स्वामी जी कोई और बिंदु है या कुछ और इसमें पूछना है कोई इसमें बातें रही हो कोई गलत बात हो गई हो उसमें और संशोधन की अपेक्षा हो तो रखते हैं पहले सत्यव्रत जी से भी और संशोधन करते हैं अभी इसको मानने वाले अधिक हैं या नहीं है कि उन्नति शीघ्र होती है या पतन शीघ्र होता है नहीं प्रत्यक्ष तो अभी भी यही कह रहा है <laughs> कि पतन शीघ्र होता है <laughs> प्रत्यक्ष तो यही कह रहा है ऐसा सिद्धांत के स्तर पर देख लिए चलिए हमारी जो भी स्थिति है हमारे को पता ना चले लेकिन ये सब सुन के वास्तव में सिद्धांत क्या है उन्नति के लिए अधिक सरलता है या पतन के लिए अधिक सरलता है उन्नति के लिए अधिक सरलता है लेकिन हमारा पिछला प्रत्यक्ष ये कह रहा था क्योंकि हम किसी छोटी सी बात को देख करके निर्णय ले रहे थे सारा हमने परिप्रेक्ष्य देखा नहीं कि क्या क्या होता है हमारे साथ में हम एक छोटी सी घटना को देख रहे हैं और उसी से ही हम निर्णय निकाल रहे हैं जी सर रिश्वत लेने में कठिनाई होगी हाँ उसको किसमें कठिनाई है किसमें कठिनाई है रिश्वत लेने में ये वो अन्य ये वो अन्याय कर रहे हैं उसके साथ ये दूसरों दूसरों का तथ्य जुड़ गया अब बहुत ज्यादा वो दूसरे अन्याय करते हैं और उसमें अगर वो बलवान नहीं है अंदर से लौकिक कष्ट ही उसे अधिक दिखाई देते हैं तो उनके साथ जुड़ जाते हैं लेकिन जो ऊंचे स्तर का ईमानदार है वो इतनी विपरीत स्थिति में भी इतने कष्ट सह करके भी रिश्वत नहीं लेता है नहीं लेता करते हैं करते हैं उसकी नौकरी चली जाए नौकरी छोड़ देगा कितने ऐसे अधिकारियों की हत्याएं हो जाती हैं नहीं मानता वो हत्या तक की स्थिति क्यों आ गई वो मानने को तैयार ही नहीं है क्यों कुछ है उसके अंदर कुछ उसके अंदर है विशेषता कैसे टिक पा रहा है वो वहां पर इतनी विपरीत स्थिति होते हुए भी कैसे टिका हुआ है वो वहां हाँ, जो नहीं सामर्थ्य है वो नीचे आ रहे हैं लेकिन जो ईमानदार है वो भी जब रिश्वत लेगा तो उसका दिल पहले धड़केगा बाद में भी धड़केगा अभी एक व्यक्ति आए थे जी पिछले समय काफी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन क्या हो गया बोले जी एक महीने में बहुत दबाव में रहा तनाव में रहा क्यों दबाव तनाव में रहा बोले एक्साइज वालों ने जो जांच के लिए कुछ कुछ चुन लेते हैं ना वैसे ही यानी रेंडमली यू ही चुन लेते हैं सौ में से कुछ को चुन लेते हैं स्क्रूटनी के अंदर चुन लेते हैं बोले उसमें वो चयन आ गया था तो बोले फिर डर क्यों लग रहा था आपको एक महीने नींद नहीं आई एक महीने आप इतने दबराव तनाव में आ गए तो डर किस बात का था बोले कहीं वो पकड़ न ले बोले वैसे मैंने कोई गलत काम नहीं किया था और ऐसा किया था कि कोई पकड़ ही नहीं सकता था उसको तो फिर ये एक महीने क्या हुआ क्यों डर लगा बोले मैंने सारे बिल वगैरह ऐसे बनाए थे कि कोई कुछ नहीं हो सकता और बाद में पकड़ा भी नहीं गया अब समस्या सारी समाप्त हो गई अधिकारी को वो चीज पकड़ में नहीं आई और ये भी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया था कि वो पकड़ ही नहीं सकता था मैंने ऐसा किया ऐसे बिल बना रखे थे कि पकड़ ही नहीं सकता था वो पर फिर भी ये एक महीना क्यों बर्बाद हो गया इतने तनाव दबाव में क्यों आ गए क्यों न्याय दर्शन की कक्षा में अट्ठाईस को नहीं आ पाए क्यों विलंब हो गया योजना थी आने की नहीं आ पाए गलत किया हुआ काम अंदर ही अंदर डर आएगा उसको भय आएगा ही कितना ही पुख्ता किया हो कितना ही पुख्ता किया हो हत्या करके कितनी ही ढंग से बच गया हो फिर भी उसे कितना सोचना समझना पड़ता है समय लगाना पड़ता है कठिन है तयोर यत सत्यम यतरत रिजी है वेद का सिद्धांत है ईश्वर का वचन है ये तो इसको झूठा कोई कर ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता और परमात्मा तो आर्यों के लिए आर्यों के सहयोग के लिए है धर्मात्माओं की सहायता करता है सहयोग करता है परमात्मा की सहायता धर्मात्माओं के साथ में है परमात्मा की सहायता योगियों के साथ में है और फिर हमें ये कठिन लगे तो मात्र हमारी कमी के कारण से है हमने ऐसे संस्कार डाल रखे तो भी ये बहुत सरल है तो भी ये बहुत सरल है कमरे में गंदगी धूल कितनी देर में आती है है जी और सफाई कितनी सी देर में कर देते हैं सफाई कितनी सी देर में कर देते हैं उससे तो कम समय में कर लेते हैं हमने मन पे बुरे संस्कार कितने जन्म जन्मांतरों में लिए हैं अनादिकाल से चला रहे इसीलिए तो अनादि जन्म न्याय दर्शन में भी आता है अनादिकाल से चला रहे लेकिन समाप्त अपवर्गांत समाप्त जन्म जो है यानी प्रेत्य भाव के संदर्भ में जो वाक्य आते हैं अनादि चला रहे लेकिन अपवर्गांत है ये जन्म मरण ये जो दोष है प्रवृत्ति है मिथ्या ज्ञान है ये अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है बहुत लंबे समय से लेकिन अपर कांत है ये दिख रहा है उसको परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है हम अपनी गंदगी को शीघ्र समाप्त कर सकते हैं इतनी सामर्थ्य दी है उसने और किन्हीं को समझे जी थोड़ा तेज बोलो आप सबको सब हम्म। ये अपन विषय के आप अंदर हो या विषय से बाहर जा रहे हो विषय से जोड़ो इसको लेकिन परमात्मा को महसी दयानंद ने कहीं लिखा हो कि आप न्याय का समर्थन नहीं करते ऐसा लिखा कहीं आप अधर्मात्माओं का सहयोग करते हैं ऐसा कहीं लिखा महर्षि ने कहीं नहीं लिखा धर्मात्माओं का सहयोग करते हैं ये अभी भी आया ये तो एक भाव विचार मात्र है रखा है उन्होंने लेकिन कहीं भी इस तरह का संकेत आपको नहीं मिलेगा और महर्षि का कोई ऐसा वचन मिलता है क्या वेद में ऐसा है ईश्वर को अन्याय का समर्थन करता माना गया हो अन्य किसी ऋषि ने ऐसा कहा हो स्वीकार किया हो नहीं मिलेगा है ही नहीं वो ऐसा ये एक प्रश्न मात्र है ये तथ्य का कथन नहीं है एक आशंका एक भावात्मक रूप से कथन है बाकी कुछ नहीं है हाँ सत्यवत जी सूत्र को फिर से बोलो तत्क्षित्रेशु प्रत्यांतराणी संस्कार पे ठीक है होते हैं प्रत्यांतर होते हैं संस्कार हैं ऐसे रुको रुको इसको एक को देखो पहले इसको समझ लो छिद्र है कमी है प्रत्यांतराणी भिन्न ज्ञान का उत्पन्न होना संस्कार है वो बुरे संस्कार हैं वो परमात्मा की तरफ से दिए हुए नहीं है वो हमारे हैं प्रत्यांतर आएंगे और वो वो स्तर बताया जा रहा है वो दूसरे विचार वृत्ति के स्तर पर आ रहे हैं पतन नहीं है मैं बात रख रहा था कि जो उच्च स्तर का है उसका शारीरिक रूप से दोष करना बहुत कठिन होता है एकदम नहीं आता है अगर शारीरिक स्तर पे दोष हो रहा है वाणी के स्तर पे दोष हो रहा है तो अंदर से बहुत शिथिलता पहले से आ चुकी है तब हुआ है ये जो बात है ये प्रत्यांत है वृत्ति के स्तर की बात है वृत्ति के स्तर पे हो सकता है क्योंकि संस्कार है वैसे वो ठीक है इसको पतन नहीं कहते इतना ये वो वैसा पतन नहीं है ये तो वो प्रक्रिया है कि हमें पता लगता रहता है कि अभी ये वृत्तियां संस्कार बाकी हैं हमारे उससे फिर उस पर काम कर सकते हैं उभरेंगे वो तो जैसे ही सफाई करेंगे नई गंदगी दिखेगी हमारे को उठेगी वो तो इसको पतन नहीं कहते हैं परमात्मा जनाता है कि अच्छा आपने ये सफाई कर ली तो अब ये गंदगी और बाकी है ताकि उस पर काम करेंगे फिर उसकी सफाई कर ली फिर और दिखाई देगी हाँ ये और गंदगी बाकी है तो गंदगी दिखाई दे रही है हम कोई गलत काम कर थो ना रहे वहां पर एक वृत्ति आई है केवल स्थान्युप निपंत्रणे संग स्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात यदि वो संग और स्मया करेगा तो अनिष्ट का प्रसंग हो सकता है बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया लोग उसको आमंत्रित कर रहे हैं सम्मान दे रहे हैं भोग साधन उपलब्ध करा रहे हैं उसमें यदि वो संग कर ले या स्मया कर ले घमंड ले आए कि हो मैं तो इतना बड़ा हो गया कि मेरे लिए लोग ऐसे ऐसे साधन लेकर के आ रहे हैं इतने सम्मान से मेरे को भोजन करा रहे हैं ऐसा करेगा तो पतन होगा वह सावधान किया जा रहा है केवल क्योंकि अभी संस्कार क्षीयमाण है क्षीण नहीं हुए हैं अभी क्षीण किए जा रहे हैं हो रहे हैं पूरे क्षीण नहीं हो गए ये सावधान करने के लिए कहा है कि अनिष्ट प्रसंग को देख करके इनसे बचे संग और स्माया से हो सकता है पतन हो सकता है यदि वो संग और स्माया करेगा तो संग और स्मया को यानी राग और अहंकार को यदि वो पुष्टि देगा मन के स्तर पर तो वो पतन होगा अंदर अगर वो पुष्टि नहीं दे रहा है तो नहीं होगा हो सकता है पतन पतन होने का मैं मना नहीं कर रहा लेकिन मैं केवल ये प्रतिपादित कर रहा हूं कि जो ऊंचे स्तर पे गया है उसका पतन होना आसान नहीं होता है ऐसे ही नहीं होता है मजबूत मकान का गिरना आसान नहीं होता है उतना ही कठिन होता है ठीक है इतना स्वामी जी